और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं कि यकीनन हम इसलाह करने वाले हैं